यदि आप बोल सकते हो तो धीरे धीरे दूसरी बार बोलेंगे एक बार मैं बोलूंगा और आप दूसरी बार जब मैं बोलूं तो दोहरा सकते हैं श्वास भरिए ओ जीवन का उद्धार कर दो भंवर में है नैया इसे पार कर दो भंवर में है नैया इसे पार कर दो मेरी इंद्रिया हो सदा मेरे वश में मेरी इंद्रिया हो सदा मेरे वश में मेरे मन पे मेरा ही अधिकार कर दो मेरे मन पे मेरा ही अधिकार कर दो प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो कोई खोट इसमें रहने न पाए कोई खोट इसमें रहने खोट इसमें रहने न पाए कोई खोट इसमें रहने न पाए समुपस्थित शिविरार्थी महानुभाव आत्मनिरीक्षण की इस कक्षा में आत्मनिरीक्षण के अभ्यास की दृष्टि से कुछ चर्चा आपसे संवाद आपसे कुछ पूछना आदि को मैं करूंगा इसको देखो ये बंद पहले तो आपका हलचल पूछ लू मैं कुछ यहाँ शिविर में कोई आपका हलचल पूछने वाला ही नहीं ऐसे ही नियमों में बांध करके छोड़ दिया आपको घर पे तो पूछने वाले होते थे तो आज का दिन कैसा रहा आपका जिनका अच्छा रहा वो हथकड़ा खड़ा करेंगे अच्छा और जिनका अच्छा नहीं रहा वो हाथ खड़ा करेंगे एक दो चार अच्छा आप लोग हाथ खड़ा करेंगे तो मैं पूछूंगा भी कि क्यों अच्छा रहा तो क्यों और बुरा रहा तो क्यों और किसी से भी पूछ सकता हूं तो कोई माइक लेने वाले भी खड़े हैं आपके पास में किसी को भी बोलूंगा ओ ओ ओ ओ किन्हीं की तरफ संकेत करूंगा तो उनको बोलना है अपने बारे में जो भी पूछा जाएगा चाहे माताओं बहनों में से हो चाहे पुरुषों भाइयों में से सबसे तो पूछ नहीं सकते इतने व्यक्ति हैं थोड़े से थोड़ा सा समय है अच्छा आप में से बताएंगे जिनका आज का दिन पूरे नियमों के अनुसार चला हो यानी कि जैसे जैसे समय था घंटी थी वैसे वैसे आप समय पे पहुंचे हो चाहे यज्ञ हो कक्षा हो व्यायाम हो उपासना हो और आपने पूरा उसमें भाग लिया हो मौन का भी मौन का भी पूरा पालन किया हो जो दिनचर्या के शिविर के अनुशासन है उसमें पूरा पूरा पूरा जिन्होंने पालन किया हो ऐसे जो व्यक्ति हैं वो हाथ खड़ा करेंगे अच्छा ठीक है पच्चीस तीस चालीस हैं अच्छा जिन्होंने आज मौन का भंग किया हो वो हाथ खड़ा करेंगे कार्य वशात नहीं कार्य में जो वितरण करते हैं और थोड़ा सा बोलना पड़ा हो वो भी संकेत से होना चाहिए लेकिन थोड़ा बोले हो वहां तक ठीक है लेकिन आपस में बात की हो बाहर के विषय में या यहाँ के विषय में ऐसे जो है वो हाथ खड़ा करेंगे अच्छा कम है लेकिन आवाज तो आती है इधर से महिलाओं की तरफ से हाथ कम खड़े हुए हैं बोले हैं और हाथ नहीं खड़ा किया ये भी एक अनुशासन का भंग है शेर का ये भी साधना और अध्यात्म के विपरीत है आप हाथ खड़ा कर देंगे तो क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा कोई कोई पहचानेगा बाकी पीछे वालों को क्या पता है किसका हाथ खड़ा कर और मैं भी किस कितनों को देखूंगा इतने लोग हाथ खड़ा करेंगे तो, तो ज्यादा डर की तो बात है नहीं तो हाथ तो खड़ा कर सकते जो त्रुटि हुई है उसको बताना आत्मनिरीक्षण का मतलब ही यही है त्रुटि सबसे होती है होगी लेकिन यदि पूछा जाता है तो उसको बता दें तभी तो सुधार की प्रक्रिया होगी अच्छा आप में से कौन कौन ऐसे हैं कुछ जो भी हैं कि जो पूरे दिन भर दृष्टि को नीचा रखते हुए ही अपने कार्यों को करते रहे जिन्होंने कि किसी को देखने का प्रयास नहीं किया कि ये क्या कर रहा है कैसे कर रहा है आपके साथ के जो हैं चाहे व्यायाम के समय हो चाहे कक्षा में कैसे बैठा है खाना कैसे खा रहा है किसी दूसरे को नहीं केवल अपने तक केंद्रित रहो जैसा कि अभी तो वैसे शायद आपको नहीं बताया हो गया होगा एक होता है अपनी नासिका की सीध में केवल नीचे देखना अगला पैर अगले दो पैर जहां तक पड़े केवल उतनी भूमि को देखना बाकी से आपको यहां क्या लेने देना है आप यहां पर अध्यात्म की कुछ शिक्षा लेने के लिए आए ये आपकी साधना का काल है तपस्या का काल है सीखने का काल है तो आप यहां पर अपने लिए आए हैं या दूसरों के लिए आए हैं आप अपने लिए आए हैं या दूसरों के लिए आए हैं यहां आकर के दूसरों को बताएंगे कि आप ठीक कर रहे हैं आप ठीक नहीं कर रहे हैं उसकी तरफ आप निश्चिंत रह सकते हैं बहुत लोग हैं यहां पर देखने वाले और दूसरों को देख करके आपको मिल क्या जाएगा किसने क्या कपड़े पहन रखे हैं ये कौन से राज्य का लग रहा है हमारे राज्य का है या दूसरे राज्य का है देखने की कोई आवश्यकता तो है नहीं आपके लिए भोजन की व्यवस्था है जल की व्यवस्था है रहने की व्यवस्था है शौचालय स्नानागार है कोई दवाई मंगानी हो तो आपको पर्ची लिख करके आप दे सकते हैं आपकी सेवा में बहुत लोग हैं वो वस्तु आपके लिए आपके पास आ जाएगी दवाई लेनी हो और कुछ हो सब चीज तो व्यवस्था है आपके यहां पर तो आप में से कोई व्यक्ति ऐसे हैं पुराने साधक कई आए हुए हैं जो अपनी दृष्टि दिन भर नीचे रखते हुए अपने आप पर केंद्रित रहे कोई हो तो हाथ खड़ा कीजिए नहीं मेरे को दिखाई नहीं दे रहा कोई एक तो आप में से जो अपने को थोड़ा और गंभीरता में ले जाना चाहते हैं वो ऐसा कर सकते हैं दिन भर नहीं तो कुछ समय रहने का प्रयास कीजिए और किसी को नहीं देखना है दृष्टि नीचे मार्ग में आते जाते नहीं देखें जिनको कार्य करना है भोजन बांटना है उनको तो देखना होता है दूसरे की थाली को भी और को भी वहां तक ठीक है तो प्रयास कीजिएगा अच्छा आप में से ऐसे कितने हैं ये अनुभव कर रहे हैं कि यहां बहुत जकड़ करके रख दिया है तो बांध के रख दिया है निसंकोच बता सकते हैं आप में से होंगे अवश्य जिनको ये लगता है कि यहाँ नियम बहुत कर दिए गए हैं बांध दिया गया है बोझ सा हो गया है कुछ अरुचि सी हो रही है रुचि नहीं हो रही हथ खड़ा करेंगे कोई नहीं दो तीन चार पांच इधर नहीं है कोई भी अच्छा इसका अर्थ मैं ये ले सकता हूं कि अभी पूरे अनुशासन में चले ही नहीं इसलिए बंद जहां लगा कुछ बेचैनी हो रही है तो पड़ोसी से बात कर ले ये बात क्यों करते हैं थोड़ी देर मौन रहे एक घंटा दो घंटा सुबह से भाई अब तो यज्ञ हो गया अब तो नहीं रोका जाता घबराहट बेचे नहीं होती तो और इसीलिए तो बात करते हैं हम और इसीलिए तो दूसरे को देखते हैं बात करने से कुछ हल्कापन हो जाता है और दूसरों को देखने से भी थोड़ा सा हल्कापन आ जाता है हाँ या ना हाँ वाले हाथ खड़ा करेंगे अगर दूसरों को देखने से दूसरों को बात करने से हल्कापन नहीं आता है तो क्यों करते हैं क्यों बात करते हैं और क्यों दूसरों को देखते हैं ये हम कोई भी कार्य ऐसा करते हैं जिसमें हमें सुख मिलता है हमें अच्छा लगता है आदत भी होती है ओके जी हमारी तो आदत है बोलने की तो हम तो बोल पड़ते हैं हमने बोलना नहीं चाहते थे बस निकल गई बात ये घटना हुई सामने आया और बस मैंने बोल दिया ऐसे ही पूछ लिया कि स्नान हो गया आपका ऐसे ही पूछ लिया बोलने की आदत है और एकदम बोल दिया तो उसका मतलब ही यही है कि हम रुक नहीं पा रहे हैं हमारे को अच्छा नहीं लगा आप में से बहुत से साधक हैं कुछ गंभीरता से चल रहे हैं और आपको अलग अलग अनुभूतियां होंगी अच्छी अनुभूति और बुरी अनुभूतियां भी उनको भी यथा समय आपसे पूछेंगे अच्छी अनुभूतियों में बहुत प्रसन्नता हो रही है अंदर से बहुत हल्कापन लग रहा है ध्यान उपासना में बहुत एकाग्रता हुई ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का श्रद्धा का भाव बहुत बढ़ रहा है आंसू आने लगते हैं यूं लगे कि देखो अब तक जैसे मैंने जीवन व्यर्थ कर दिया हूं भाव बन रहा हो कि अब मेरे को अपना जीवन बहुत अच्छा करना है अब तक हो गया जो हो गया अब मेरे को बहुत अच्छा जीवन जीना है आगे के साल आगे का जीवन मेरे को व्यर्थ नहीं करना है इत्यादि बहुत सारी बातें आपके मन में आ सकती हैं ये अच्छी अनुभूतियां हैं अगर हम यहां बताई हुई बातों को सुन रहे हैं विचार कर रहे हैं जीने का प्रयास कर रहे हैं तो ये चीजें आनी ही चाहिए आएंगी ही और बुरी अनुभूतियां भी हो सकती हैं आप में से कुछ को ये लग सकता है कि योग शिविर में आए तो इसलिए थे कि मन एकाग्र हो फालतू की इधर उधर की बातें व्यर्थ की बातें ना आए लेकिन घर पर जितने उल्टे विचार आते थे यहां तो और अधिक विचार आ रहे ध्यान साधना में बैठते हैं तो और ज्यादा विचार आते हैं मौन रहते हैं तो और अधिक उल्टे विचार आते हैं यदि बातचीत करते रहेंगे तो उल्टे विचार नहीं आएंगे इधर उधर लोगों को देखते रहेंगे तो उल्टे विचार नहीं आएंगे सुनते रहेंगे तो उल्टे विचार नहीं आएंगे लेकिन जहां एकाग्र हुए मौन हुए तो और ज्यादा उल्टे विचार आते हैं आए तो अच्छे के लिए थे यहां तो परिणाम प्रभाव तो उल्टा आ रहा है बुरा आ रहा है बुरा अनुभव भी हो सकता है किसी को लगता हो कि यहां बुरे फंसे यहां तो घुटने में दर्द हो गया इतना बैठे बैठे बैठे और सब देख रहे हैं मंच पे हैं तो थोड़ा सीधा भी और अच्छी तरह भी बैठना पड़ता है अपने कमरे में घर में होते हैं तो जैसे टेढ़े मेढ़े बैठ लेते हैं अब जैसे ही मैंने ये चर्चा शुरू की मैं तो आपके हित के लिए बोल रहा था कि भाई घुटने में दर्द भर तो आप में से कईयों की नई स्थितियां अच्छी बना ली जब कहीं टोक न दे उस तरफ आप निश्चिंत रहिए ये अच्छा है कि ध्यान साधना में और कक्षा में हम सीधे बैठे बैठ सकें लेकिन ये तो हम भी जानते हैं कि आप में से बहुतों की मजबूरी है बहुत से तो नीचे बैठते ही नहीं है कुर्सी टेबल पर ही बैठते हैं या तो इतनी देर नहीं बैठ सकते और घुटनों में दर्द भी हो रहा होगा या हुआ होगा हो जाएगा तो यहां पर सीधे बैठना नीचे बैठना अधिक मुख्य है या बातों को सुनना समझना ये अधिक मुख्य है क्या अधिक मुख्य है कहे कि नहीं यहाँ तो सीधे बैठना है अच्छा नहीं लगेगा आचार्य जी बार बार कह रहे हैं सीधे बैठो दर्द हो रहा है अपने सीधे बैठे रहना है अब मन कहाँ पर रहेगा दर्द पे रहेगा घुटने पे रहेगा कमर पे रहेगा गर्दन पे रहेगा कंधों पे रहेगा जो दर्द कर रहे हो ऐसे खिंच गए हो तनाव आ गया तो इस विषय में आप थोड़ा सहज रहे इसमें हम कठोर नहीं है अगर किसी को यहां बीच में ऐसा लगता है तो आराम से पैरों को बदल लें कोई संकोच की बात नहीं है ठीक है धीरे आपका अभ्यास हो जाएगा तो आप भी आधा एक घंटा बिना विचलन के स्थिर बैठ सकेंगे लेकिन केवल इसके लिए कि स्थूल और गौण बातें होती हैं जिसपे कि हमें ध्यान रखना होता है कि हम कहीं छोटी बात के लिए बड़ी बात की हानि ना कर लें तो अगर आप कुछ बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं बदल लीजिएगा और किसी को यह लगे कि मैं तो पैर मोड़ के ही नहीं बैठ सकता मेरे को तो फैलाने पड़ेंगे तो थोड़ा ध्यान में रखते हुए फैलाने ना आपके आसपास के किन्हीं को लगे नहीं अशिष्टता ना हो तो चाहे तो आप फैला भी लेना अगर ऐसा लगता है लेकिन ये बुरा अनुभव हो सकता है सुबह चार बजे का उठना ये भी बहुत बुरा अनुभव हो सकता है उठा दिया आंखें भारी हैं रात को देर से सोते हैं या तो नींद आई नहीं नींद आई ग्यारह बारह बजे सुबह फिर चार बजे फिर घंटी लेकर के आ गए उठो उठे अब आंखें भारी चला नहीं जा रहा है फिर भी जबरदस्ती कितना कष्ट होता है लेकिन ये जो आपको कष्ट है यदि कभी अधिक बाधा हो तो आप सूचना कर दें मेरी अनुकूलता नहीं है इतना कठोर नहीं रखते कि आपको पीड़ा दें यहां पर हाँ ये तो चाहते हैं कि आप अनुशासन में रहें और अच्छे से अच्छा रहें और थोड़ी पीड़ा तो आपको हो तभी इसमें योग्यता बनती है सामर्थ्य बढ़ती है नहीं तो नहीं बनेगी तो आप में से यदि कोई अपने अच्छे अनुभव बताना चाहते हो आज के विशेष बात हो कोई आज मेरे को ये विशेष अनुभूति हुई तो हाथ खड़ा कर सकते हैं हाथ खड़ा कीजिए दीजिए इनको माइक बीच में दीजिए हाँ, बीच में आ जाओ और इधर माताओं बहनों में से आप बताएंगे इनको दो संक्षेप से मूल बात अपनी रखिए बताइए इच्छा हो रही है कि लंबी बात करें और आप रोक रहे हैं तो आप रोक रहे हैं ये सफलता है फिर से बोलिए माइक को पास में रखिए और जोर से बोलिए थोड़ा हाँ हाँ रोक रहे हैं ये आपकी सफलता है बैठिए देखिए इन्होंने क्या कहा दूसरे बात कर रहे हैं तो मेरी इच्छा होती है कि मैं भी बात करूं यदि सभी मौन रहे तो उतनी इच्छा नहीं होगी लेकिन जब देखते हैं कि इच्छा तो मेरी भी हो रही है ये बात कर रहे हैं तो हमारी इच्छा अधिक होती है ये कठिन काम है फिर भी आपने अगर मौन किया है तो अच्छी बात है अब इस बात से एक संकेत आप लोग समझ लीजिए जो बोलने वाले हैं कि यहां आप सामूहिक रूप से रह रहे हैं और ऐसे में दूसरों का ध्यान रखना भी हमारा प्रत्येक साधक साधिका का कर्तव्य बनता है हम बात कर रहे हैं इसका दुष्प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति की साधना पर पड़ेगा पड़ता है और यदि हम किसी अच्छे कार्य में बाधा करते हैं तो हमारे को क्या मिलता है हमारा क्या बनता है अगर किसी व्यक्ति को चलते फिरते को हम टांग मार दें और वो गिर जाए तो हमारे को क्या मिलेगा हमारा क्या बनेगा पाप बनेगा गलत कार्य हुआ है पाप बनेगा ऐसे ही यदि कोई साधना कर रहा है और हम उसमें बाधा कर रहे हैं चाहे बोल करके चाहे और कोई गतिविधि करके तो इसमें आपका पाप बनेगा और साधना करना संसार का सबसे श्रेष्ठ कार्य है सबसे उत्तम कार्य है उत्तम कार्य में बाधा करना कम पाप बनाएगा या अधिक पाप बनाएगा अधिक पाप बनाएगा आपको जिनको यहां बहुत अच्छा लग रहा है थोड़ी छूट भी ले ली बातचीत भी करते हैं चलो बहुत अच्छा है वो अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है ये तो देखना पड़ेगा कि कहीं हम यहां आकर के सीखा तो थोड़ा सा और बहुत सारा पाप कमा करके चले जाएं ये बहुत सावधानी की बात है यदि हमारे अनुशासन में रहने से दूसरों को भी प्रेरणा मिल रही है तो हम पुण्य के भागी बन जाएंगे अपने आप में ये पुण्य का कार्य है कि हमें हमें देख करके किसी को साधना में चलने में अनुशासन में रहने में प्रेरणा मिल रही है तो ये हमारा पुण्य बनता है और बहुत अच्छा पुण्य बनता है और शीघ्र फल देने वाला पुण्य बनता है और यदि हम साधक की साधना में बाधा कर रहे हैं तो पाप भी अधिक लगता है और शीघ्र फल देने वाला होगा अपने अपने ऊपर निर्भर करता है ठीक है आप बताइए आज की जो आपकी अच्छी अनुभूति रही हाँ एक तो माइक पास में रखिए बिल्कुल पास में आपने टेलीविजन में देखा होगा कैसे बोलते हैं वो गायक वगैरह यहाँ रखिए आपकी आवाज एकदम आएगी तो चला गया अच्छा आप थोड़ा ये बताएंगे कि ध्यान में जो आपको अच्छा लगा वो कैसा अच्छा लगा क्या अनुभूति थी और थोड़ा खोलिए इसको बैठिए बैठिए अच्छी बात है कल इनको नींद आ रही थी और आज इनको अच्छी अनुभूति हुई अंदर प्रतीति होगी और दूसरी बात इन्होंने क्या कही कि लेकिन दिन में मैंने बातचीत की तो वो मेरा आनंद चला गया कम हो गया ये सबको अनुभव होगा ध्यान साधना में जो रस आनंद शांति हम पाते हैं यदि हमारा बात का व्यवहार भी अच्छा है तो हम उसको देर तक बनाए रख सकते हैं उसकी एक अंदर ही अंदर की खुशबू मधुरता शांति देर तक बनी रहेगी हम ही स्वयं उसको गड़बड़ कर देते हैं चाहते तो हैं कि अच्छा बना रहे लेकिन बस किसी भी कारण से बात कर ली सामने वाला बात कर रहा है तो बात कर ली कि कहीं बुरा ना मान जाए यहां बुरा मानने की कोई बात नहीं है कोई बात भी करता है कोई लिहाज की बात कुछ लिहाज नहीं रखना उनको भी पता है वो गलत कर रहे हैं प्रेम से कह दीजिए कुछ नहीं बोलना उंगली से विनम्रता से कर दीजिए मौत ऐसा करके उनको गलत होने से भी बचाएंगे और उनको भी प्रेरणा मिलेगी कि नहीं देखो ये अनुशासन में मैं भी अनुशासन में रहूं अच्छा और किनको दिया इनको दीजिए माता जी को दीजिए माइक पास में रखिए और आज आज जी उपासना में बहुत आनंद आया अच्छी बात है बैठिए आप बताइए माता जी तो सबसे पहले सबसे पहले मैं कर्मचारी को धन्यवाद दे रही हूँ क्योंकि बहुत अच्छी तरह शांति से सब काम को कर रहे ये आप अंतिम दिन बताइए अभी और अनुभव ले लीजिए अभी चार पांच दिन बाकी है हो सकता है आपकी मान्यता बदल जाए हम्म। धन्यवाद सूचना देने वालों को सब जगह अपनी अच्छी अनुभूति बताइए अपनी साधना की जो आपने दिन भर किया आपने आप अपनी उपलब्धि बता रही हैं या कुछ और बता रही हैं अपनी उपलब्धि बता रही ये अपनी पीड़ा बता रही हैं ये है कि नारी को शिक्षा प्राप्त हुई हुई जाती अब जो है जैसे महात्मा उनकी इतनी अच्छी जो नारी को शिक्षा प्राप्त की है तो हमारा तो यही कर्तव्य है रहेगा मेरा तो ये साथ नहीं रहेगा तो इस आप मार्ग नहीं लगा के रहूंगी बैठिए बैठिए देखिए ये भी एक अनुशासन की बात है संयम की बात है वाणी का संयम जब जो प्रसंग चल रहा है बस केवल उतना ही बोलना है इधर उधर एक भी वाक्य फालतू का नहीं बोलना है इतने लोग बैठे हुए हैं यदि हम एक दो वाक्य व्यर्थ बोलते हैं आधा मिनट एक मिनट गंवाते हैं तो कितने जनों का एक दो मिनट गंवाते हैं मान लो यहां पर 250 300 लोग बैठे हैं उतने मिनट हम गंवाते हैं और उसका भुगतान किसको करना होगा किस पे लगेगा वो हमारे पे लगेगा जो प्रसंग का हो केवल उतना ही बोलना है उतना ही उत्तर देना है और कुछ नहीं ठीक है और कोई है जो इनको दीजिए इधर और कोई है उनको माता जी को दीजिए उपलब्धि बताइए और अभी माइक आने दीजिए और इसके बाद में मैं और पूछूंगा कि जिनको बुरा अनुभव हुआ हो कटु अनुभव हुआ हो वो भी अपना बताएंगे बोलिए माइक को पास में रखिए हाँ, रचना अभी सुनानी नहीं है आप उसकी प्रशंसा ये कर सकते हैं कि मेरे ऐसे भाव बने कि मेरी एक रचना निकली मेरी मानसिक स्थिति अच्छी हो माइक को पास में रखिए जी और मैं

और बाबू आदमी को में देखना चाहती थी और यहाँ आने वाला तीन दिन हमने चाय नहीं किया अभी शाम को ऐसा मौका मिला कि मैं सेवा देने की सब्जी काटने का उसी में चाय वितरण हुआ तो मेरा मन थोड़ी देर के लिए चाया और मैंने थोड़ी सी चाय दी चाय पीने के बाद मैं तुरंत ही वही सारे अपने पति को बताया कि मैंने चाय दे क्या आई है कोई तो थोड़ा सा नाराज होगा तो चले

आत्मा और परमात्मा परमात्मा के आनंद की अनुभूति वो तो बहुत आगे के हैं लेकिन साधना में एक कदम भी हम बढ़ाते हैं एक छोटा सा भी संयम करते हैं तो वो बहुत सुख देता है जिस समय हमारा मन विषयों की तरफ जा रहा होता है सांसारिक आकर्षण हमें लगता है और जब हम रोकने का प्रयास करते हैं तो वो कष्टप्रद लगता है जैसे कि कोई बिच्छू काट रहा बड़ी बेचैनी होती है और उस बेचैनी से बचने के लिए फिर हम उस विषय का उपयोग कर लेते हैं उपभोग कर लेते हैं सामान्यतः ऐसा होता है तो लगता है कि संयम करना रोकना नियंत्रण में रखना कठिन है कष्टदायक है यदि हम उस थोड़ी सी पीड़ा को सहन कर लें तो हमारा प्रत्येक संयम हमें बड़ा सुख देता है बड़ा आत्मविश्वास पैदा करता है बड़ी निर्भयता लाता है और इस अध्यात्म के मार्ग में अपने को प्रशस्त करने के लिए रास्ता साफ कर देता है थोड़ा कष्ट है या उसको आप अधिक कष्ट कह लीजिए और अगर अंदर साधना की कामना है और हम संयम तोड़ते हैं तो दुख देता है ठीक है तो अब आप में से कोई बताएंगे जिनको कटु अनुभव हुआ हो आज का इनको लगा हो कि मेरे को बहुत खराब हुआ है इनको दीजिए ब्रह्मचंद जी को चलिए उनको दे दीजिए इधर से कोई है इधर कोई है पीछे पीछे दीजिए उनको

सूर्य और और जो सीढ़ी हम हैं यहाँ से वही हम सुनकर साधना श्रोता के रूप में केवल अपने घर पर सुबह शाम एक करते थे बैठिए तो आप अंतर उसके हम बैठिए बैठिए देखिए इनको जो बुरा अनुभव लग रहा है वो परिवर्तन का लग रहा है हमारे मन में ये विचार बन जाता है कि ध्यान साधना बस ऐसी तो ऐसी ही होनी चाहिए बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए देखिए प्रारंभ में जब हम करते हैं तो बिल्कुल वैसा ही करवाते भी हैं करना चाहिए लेकिन साधना की विभिन्न रीतियां हैं मूलभूत बातें वही रहते हुए भी यदि उसमें थोड़ा परिवर्तन होता है तो वो कोई दुख की बात नहीं है किन्हीं ने जब अलग तरीके से कराया अलग मंत्र लिया किन्हीं ने प्राणायाम अधिक कराया और कुछ प्रक्रिया भूमिका सज्जा अधिक कराई ये कुछ परिवर्तन हो सकते हैं और इसीलिए अलग अलग यहां पर करवाया भी जाता है नहीं तो दोनों समय एक जैसे भी करवा सकते हैं प्रातःकाल ध्यान उपासना की रीति से कराया जाता है सायकाल संध्या उपासना आपको दोनों का परिचय मिले और आप में से अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग चीजें अच्छी लगेंगी और साधकों को किसी समय कोई बात ज्यादा अच्छी लगती है करना ध्यान साधना में और कभी कोई बात अच्छी लगती है तो उसको सहजता से लीजिए सिद्धांत विरुद्ध कोई बात हो तो आपको गलत लग रहा है वो उचित है लेकिन वैसे जो बताया जाता है उसमें जो भिन्नता है ये भिन्नता तो रहती है और उपासना की भिन्न भिन्न पद्धतियां रही हैं ये उपनिषद से भी हमें पता लगता है और वेदांत दर्शन से भी पता लगता है उसका कोई एकदम बंधा बंधाया ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे ऐसे करना ये नहीं मूलभूत बातें वही रहनी चाहिए लेकिन कुछ प्रक्रियाएं अलग अलग हो सकती हैं उसको सहजता से ले सकते हैं हाँ किनके पास है उसको खोलो फिक्र ये आया था कि मेरी साधना आगे बढ़े लेकिन यहाँ का पानी सूट नहीं करता है तो शरीर की समस्या से मैं मैं सुबह वासना सही से नहीं कर रहा और जब शुद्धि हो जाती है पेट की तब न होता है कक्षा तब मन एकाग्र होता है तब उठना तब लेकिन तब कक्षा बैठिए ये तो थोड़ा आपको सहन ही करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है वैसे तो बाहर से जो जल आता है मीठा आता है यहाँ भी शुद्धि के यंत्र लगे हुए हैं और कुछ हम ज्यादा यहाँ कर नहीं सकते ठीक है ये शरीर का कष्ट रहता है और योग दर्शन में आप देखेंगे कि साधना के अंतराय बाधक बताए गए हैं उनमें सबसे पहला अंतराय व्याधि है रोग होता है तो वो साधना में बाधा खड़ी करेगा इसलिए अपने को हमारा निद्रा भोजन और ये सब ठीक रखना ही होता है और कोई एक व्यक्ति इधर दे रखा है पीछे सबसे पीछे दीजिए एक को दीजिए मैंने तो तो हमारे कारण जीव को मारना हिंसा नहीं लेकिन आज सबका समाधान में आचार्य सौम्य से किसी ने पसंद किया था कि ये मौसम मत्सर होने को मारने में पाप के लेवड़े मारने बता था कि जहां परिसर बैठा हो विकल्प ये भी एक स्कोर डाले जबकि मैं तो इसी आधार पर मान के लिए भी मत्सर अच्छा तो हानिकारक है हानि पहुंचाता समाज तो में कोई पाप नहीं है तो मैं तो मार देता था इंडस्ट्री मार देता था और तो तो मैं जैसे आ गया तो सुना तो की स्थिति में आ गया और मेरे मानसिक विचार की स्थिति तो में मैं चीटी के विचार मैं देखता हूँ कि अंडा जी तो मैं आया हूँ देखिए यदि उनसे बचने का हमारे पास और कोई उपाय नहीं है सिवाय मारने के तब वो स्थिति है कि हम उस सांप को शेर को और किसी को हम मारते हैं लेकिन यदि हम बच सकते हैं जहां तक हम बच सकते हैं वहां तक हमें बचना चाहिए और जिसे हम हानिकारक कह रहे हैं वो सब रचना परमात्मा की ही की हुई है चाहे सांप हो चाहे शेर हो या और कोई भी हो विष भी है तो वो परमात्मा ने बनाया है और एक दृष्टि से वो हमारे लिए हानिकारक भी है लेकिन वो पर्यावरण और अन्य दृष्टियों से औषधियों की दृष्टि से वो लाभदायक भी होते हैं तो हम जो सोमदेव जी ने आचार्य जी ने जो कहा होगा मैं जैसा समझ रहा हूं कि कोई मक्खी भी बैठी मच्छर भी बैठा एकदम से मारते हैं हम उससे बचना चाहिए वो कोई पाप नहीं कर रहा है उसको ऐसा ही शरीर दिया है परमात्मा ने उसको ऐसा ही बना करके दिया है हम सांप को बाधित ना करें तो सामान्यतः वो हमें काटता नहीं है लेकिन अगर आता है तो हमें भी अपनी सुरक्षा का अधिकार है उतने स्तर पर हम कर सकते हैं तो उसको तो केवल सीमा की बात है कि हम एकदम मारने ना लग जाएं और जहां तक हो सके बचें और न बच सकते हो तो उसको हम मार सकते हैं तो इसको अभी हम आज का विषय इतना ही रखते हैं और चर्चा आपसे आगे करेंगे आपके अनुभवों को सुनेंगे मैं कुछ आपसे पूछूंगा आज तो आपकी स्वेच्छा से हाथ खड़े करके नहीं तो मैं भी कभी सीधे संकेत करके आपसे दिनचर्या आदि के बारे में पूछ सकता हूं आज का विषय इतना ही रखते हैं मंत्र पाठ के लिए पूछना है कोई आइए